मनु सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों मनुष्य जीवन की सफलता और विफलता को हम किस प्रकार से विचारते हैं जानते हैं समझते हैं जैसे व्यक्ति प्रत्येक क्रिया चेष्टा व्यवहार करता है कि मुझे किसी प्रकार का दुख क्लेश कष्ट कहीं से भी न आए ऐसा समझता है तो जैसे वो जानता है कि किसी प्रकार का दुख क्लेश बाधा नहीं आए उसको अच्छे प्रकार से जानना पड़ेगा कि दुख का स्वरूप क्या फिर ये जानना पड़ेगा कि दुख किन किन कारणों से उत्पन्न होता है कारणों को हम किन किन उपायों से हटा सकते हैं ये सब उसको जानना पड़ेगा ही जैसे वो दुखों से छूटना चाहता है ऐसे सदा प्रयास करता है कि मुझे नित्य स्थायी दुख रहित सुख मिल जावे बंधन रहित हो जाऊं उसको सुख का स्वरूप बंधन रहित मोक्ष मुक्ति का स्वरूप जानना ही पड़ेगा और जो बंधन से छूटने के उपाय हैं और नित्य आनंद प्राप्ति के उपाय उनको जानना पड़ेगा और उनको व्यवहार में लाना पड़ेगा व्यवहार की बात आप दैनिक जीवन में क्या प्रेम पूर्वक दूसरे को उसके हित की दृष्टि से उसके दोषों को बतलाते हैं आप बताएंगे कौन कौन बतलाते आप में से दूसरे को कह करके कि आप मेरे दोषों को बतलाया करें क्या ऐसे उसको उत्साहित करते हैं कि आप मेरे दोषों को बतलाया करें या नहीं करते कौन कौन करते हैं बताइए और कौन नहीं करते तो जो नहीं करते वो इस कार्य को आवश्यक नहीं मानते क्या इसलिए नहीं करते होंगे आवश्यक नहीं मानते ये कार्य आवश्यक है या नहीं के दूसरे को ये कहना आप मेरे दोषों को बतलाते रहा करें मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा ये आवश्यक है या नहीं जो आवश्यक मानते हो हाथ खड़ा करो और जो आवश्यक नहीं मानने वाला कोई नहीं होगा तो इसको किया क्यों नहीं आज तक आपने क्या आपने ऐसा विचार नहीं किया मैं यदि दूसरे व्यक्ति को उत्साहित नहीं करूंगा तो वो मेरे दोषो को प्राय नहीं बताएगा या नहीं होता ऐसा क्या समझ में आ रहा है हम यदि दूसरों को उत्साहित नहीं करेंगे तो वे हमारे दोषों को नहीं बताएंगे नहीं बताएगा दोषों को बताने वाले व्यक्ति को आप अपनी ओर से अभय प्रदान नहीं करेंगे तो भी वो दोषों को नहीं बताएगा अब क्या समझ में आया दूसरों को बताने वालों को हम यदि अभय साधक जी आप बताओ क्या समझ में आया अपना व्यवहार ऐसा सिद्ध कर देना चाहिए कि वो व्यक्ति उससे सुनी हुई बात पर संकोच ना करे हम्म। यह घटना जब तक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा विश्वास ने दिला सके कि आप कभी भी कोई भी दोष आप बताते रहिए मैं कभी भी दुखी अप्रसन्न नाराज नहीं होऊंगा तब तक व्यक्ति विशेष प्रयत्न करके उसके दोष नहीं बताएगा क्या समझ में आया साधक जी है आपने किसी को कहा है कहते हो या नहीं कहते है कहता हूं और कभी कभी वो कह तो देता है मेरे दोस्त बताया करो ये बताता तो वो नाराज हो जाता है नहीं <laughs> आई बात समझ में ऐसा आपने नहीं देखा लोगों में व्यवहार नहीं देखा तो बताओ है? दोष जानने हो तो प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि दूसरे व्यक्ति को निर्भय भय रहित बनाना पड़ेगा कि आप कभी भी कोई भी दोष मेरे बताते रहिए मैं दुखी नहीं होऊंगा मैं कभी अप्रसन्न नहीं होऊंगा और आपका कभी अहित नहीं सोचूंगा ऐसे आपको दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाना पड़ेगा और देखिए एक बात दोष बताने वाला व्यक्ति आपकी छह बातें बताता है तीन तो दोष स्पष्ट हैं और तीन उसके दिमाग में जो दोष नहीं थे वो दोष प्रतीत होने लगे उसने छह के छह बता दिए क्या समझ में आया साधक जी क्या समझ में आया दोष बताने वाले ने जिसमें दोष देखे हैं उनमें से आधे दोष तो सिद्ध है सिद्ध थे वो बता दिए और आधे थे नहीं वो वास्तव में उसको भ्रांति हो गई तीन और दोष गिनाए जो वास्तव में उस उसके भ्रांति के कारण से इसको दोष दीख पड़े हैं वो दोष थे ही नहीं ऐसा नहीं होता क्या आप बताओ हो सकता है हम्म? हो सकता है सर और दोष सुनने वाले व्यक्ति ने तीन तो अच्छी तरह मान लिए और उसने कहा बहुत अच्छा किया आपने पर तीन में वो दुखी हो गया खिन्न हो गया नाराज हो गया कहीं गए ये आपने कैसे दोष बताए तो भी आपके दोष कोई नहीं बताएगा अब आया समझ में नहीं आया कुछ तो आप इस पर बल देना चाहेंगे कि इसने जो दोष नहीं थे वो दोष क्यों बताए आप ये नहीं मानते ये मेरे हित के लिए बताता है अल्पज्ञ होने से तीन के विषय में इसको भ्रांति हो गई है और इसको बताया जाए देखो भाई ये तीन तो दोष जो नहीं थे ये तो आपके समझ में आने की भूल है ये तीन तो दोष नहीं है ये तो उसका समाधान है एक और वो तीन दोष नहीं थे उनको दोष बताने में वो दुखी हो जाए तो फिर वो दोष नहीं बताएगा आपको समझ में आ गया हाँ जी कौन बताएगा ध्रुवदेव जी क्या समझ में आया यदि दोष बताने वाला व्यक्ति आधे दोष तो सिद्ध बताता है और आधे दोष भ्रांति का बताता है तो सुनने वाले को उनको भी प्रेम से सुनता है बड़ी श्रद्धा रुचि से सुनता है नाराज नहीं होता यदि वो सुनने वाला व्यक्ति उन दोषों को सुनकर नाराज नहीं होता तभी जो दोष बताने वाला व्यक्ति है वो निर्भयता से दोष बताएगा परंतु यदि सुनने वाला व्यक्ति नाराज हो जाता है जो दोष भ्रांति के कारण बताए हैं तो जो बताने वाला दोष बताने वाला व्यक्ति है वो आगे से दोष नहीं बताएगा इसलिए सुनने वाले व्यक्ति को ऐसा विचार करना चाहिए कि जो दोष भ्रांति कारण बताए हैं वो बताने वाले व्यक्ति ने कारण अल्पज्ञता के कारण बताए इससे आपको पता चला कि हम परस्पर जो रहते हैं आपस में घुल मिल के दिन भर दिनचर्या में पढ़ते पढ़ाते हैं यदि हम ऐसी पद्धति इस रीति इस परंपरा को नहीं अपनाएंगे तो हमारे दोष दूर बहुत कम होंगे बहुत से दोस्त जो कहते बने रहेंगे दूसरी बात आपको इस नियम पर चलाया जा रहा है क्या इसी इस काल में आप संस्कृत भाषा बोलेंगे इसमें नहीं क्या नियम है कौन बताएगा क्या नियम है क्या अभी कोई नियम नहीं क्या नियम है सायकाल भोजन के अनंतर हम्म। और दुग्धपान तक हम्म। के बीच में आवश्यक कार्यों के लिए आर्य भाषा का प्रयोग की छूट है बाकी के समय संस्कृत भाषा में तो आप इस नियम को भंग करते हो या नहीं आप बताइए अपना अपना जो जो करते हो हाथ खड़ा करो और नियम भंग करने का कोई दंड है या नहीं है, है। क्या दूध या फल छोड़ दें एक दोनों में तो आप ऐसा करते हैं या नहीं जो करते हो हाथ खड़ा करो भंग होने पर ऐसा अपना दंड लेते हो वो हाथ खड़ा करो हमेशा नहीं करते आप अपना अपना बताओ जो दंड लेते हो तो हाथ खड़ा करो नहीं लेते वो नहीं लेते तो हाथ खड़ा करो तो जब फिर आपने नियम का पालन कहा किया दूसरा व्यवहार का दोष याद रखिए जो व्यक्ति अपने दोष का स्वयं दंड नहीं लेता और उस पर से ले आइए दूसरे के बताए हुए का भी नहीं लेता वो सुधर कभी नहीं सकता कभी नहीं सुधर सकता दूसरे ने जो विधान बनाया उसका वो पालन नहीं करता दंड नहीं लेता और न ही स्वयं दोष करके स्वयं दंड लेता वो व्यक्ति नहीं सुधर सकता आपने जो हाथ खड़े किए इसमें तो सारे बिगड़ रहे हैं आप व्यवहार का उपयोग प्रयोग कैसे हो आप कैसे सुधर सकते हैं एक पहली बात बतलाई थी उसको याद रखिए ये दूसरी बात है जो नियम बनाए गए और आपने स्वीकार कर लिए उनका दंड आप नहीं लेते तो आप बिगड़ते चले जाएंगे सुधर नहीं सकते आप स्वयं भी अपने दोषों का दंड व्यक्ति लेता है प्राश्चित करता है किसी न किसी रूप में तो वो सुधरता है कुछ नए विद्यार्थी आते हैं स्वामी जी हाँ जिनका संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं होता हाँ उनको प्रारंभ में तीन मास के लिए छूट दी जाती है अच्छा तीन मास तीन मास वाले जितने हैं तीन मास वालों को तो अभी वो ध्यान से सीखें उनको छोड़ दे शेषों की बात ले लें शेष जो तीन माह से पहले के हैं उन पर नियम है और जो तीन के नहीं हुए उनका नियम अभी प्रारंभ नहीं हुआ है ये उनकी बात हटा के जो तीन माह से अधिक दिन से हैं उनके ऊपर ये बात लागू होती अब थोड़ा सा प्रयोग संस्कृत भाषा का साधक जी आपसे पूछते रहे तो ठीक है या नहीं आप कष्ट का अनुभव करते हो तो ब्रह्मचारियों से पूछे <laughs> अच्छा संदीप हम आ गए हैं इस तरह है कर्माणी करोती न वा यदि अयम नियम कर्मणाम फलम अवश्यमेव भवति यह कश्चित अपि कर्म कुरियात तस्य कर्मण फलम भवति एव तर्हि ईश्वरस्य कर्मण फलम भवति न वा रणवीर महाभाग है ईश्वर है कर्म है करोति ते तस्य फलम भवति न वा भवति केन हेतुना न भवति अपेक्षा एव नास्ति ईश्वरं फलस्य तस्य अर्थात् कर्मणां विना अपेक्षे एव सः कर्माणि करोति परोपकाररूपेण परोपकाररूपेण यदि कश्चित् सन्न्यासी योगिः कर्माणि करोति तर्हि तस्मै अपि फलं न स्यात् किन्तु सन्यासिनी न्यूनता भवती सुखस्य किं किम् सन्यासिनी <laughs> सन्यासिनी एक पुनः स्पष्टं तु नास्ति न स्पष्टरूपेण वक्तव्यम् हा हा एवम् एवं वक्तव्यम् सुखस्य न्यूनता भवति तस्य पूर्ति अर्थः साधकमहाभाग भवता वाच्यं यद् ईश्वर है कर्म करोति तस्य है कर्मण फलम ईश्वर आये किम रथवन उपलब्धे निष्काम कर्माणी तो योगी भी करोति मोक्ष फलम भवती तो तर्हि भवता उत्तरम् अर्धं दत्तम् अर्धं न दत्तं फलं तु तो अभूत् ईश्वरेण तुलना तु तो नाभूत् ईश्वर ईश्वर से ईदृशी स्थिति तो नास्ती तो से लौकिक फलम न लभेता हाँ, मोक्ष फलम लभेता ईश्वर से तो ईदृशी स्थिति नास्ती तो उत्तरम न सम्यक प्रतीयते न वा हम्म? भगवान उपदेश सर्वदा आप काम अनेन तस्य कर्मणः तुलना यो, योगिनः निर्मावत् किमपि कर्मणा न कर्तव्यम् तरीयायम वैदिक है नियम यद कर्मण फलम अवश्य में वक्तव्यम कर्तम कर्म सुभाषो तरी कथम ने भवती ईश्वर से ऊपरी ईश्वरीय कुतो ने घटते हाँ ईश्वरीय कुतो ने घटते तो आप काम है भगवान ध्रुवदेव है न अयं हेतु अरे हेतु अस्ति न वा हा रणवीर महोदय सन्दीप महाभाग है स्पष्ट वक्तव्य साधक महाभाग हाँ एवं साधक महाभागेन उक्तम सर्वदा मुक्तो वर्तने शुद्ध बुद्ध मुक्तो अस्ति अर्थात् तस्मै ईश्वराय फलस्य आवश्यकता नास्ति किमुत्रम अभूत किमुत्रम अभूत आवश्यकता नास्ति आप्तकामः एते जीवाः सृष्टिनिर्माणम् विना एव तिष्ठन्तु भवेयु तर्हि सृष्टेः रचनाया का आवश्यकता साधक भाव आ गए सृष्टि है सृष्टे रचनाया आवश्यकता ये नास्ती जीवा ये स्थास्यंती किम रथम ईश्वर सृष्टि निर्मायती सृष्टि बिना जीव से कर्म फल से किमपि साधन तो भवे कस्य कर्म ने फल पूर्व अस्ति एव न सृष्टि रचनाया न भूत इति मन्यामहे निवृत्तम सम्यक नास्ती हाँ रणवीर महोदय उत्तर पदे साधक महाभागत वृद्धो वर्तते युवानां कार्यम् अस्ति कठिनं कार्यं वेत् युवः एव कुर्यात् हाँ। मोक्षफलप्रदानार्थम् हाँ। अन्यच्च पूर्वकृतकर्मणां मैं पूर्वं तु मया उक्तं पूर्वं नास्ति एव न अस्माभिः एवं किं कुर्यात् एव न इति मन्यामहे कदापि न कुर्यात् सृष्टिरचनामेव कुर्यात् एवमेव तिष्ठेयो जीवः किन्तु सृष्टे अपेक्षया तत्र प्रलये तावत् सुखं न लभते यावत् सृष्टिकाले मिलति तो तस्मात् कारणात् ईश्वरः तर्हि एवं मन्यामहे ईश्वरः सृष्टिं रचनां न कृत्वा रचनां न कुर्यात् तथैव मोक्षफलं दद्यात् अलम् मोक्षफलं दद्यात् विना सृष्टिरचना एव हा कथम न्यायकारी न्याय तो न्याय तो एवं अस्ति यद ये है निर्धना सन्ति दुख युक्ता वा सन्ति सुख रहिता वा ते बेव आनंदम ददात अयम न्याय अयमेव तो न्याय अन्य न्याय कर कर्माधारेण या फलम ददाति तद न्याय साधु मावाद के उत्तरम सम्यक् अस्ति कर्मणि विना फलं दातव्यम् अन्याय भवति तर्हि कश्चित् व्यक्ति योगाभ्यासं कुर्वाणे है स्वः मनः वशे न कर्तुम् अर्हति पुनः पुरुषार्थ पश्चात् स कथयति हे ईश्वरः मह्यं बुद्धिं विद्यां ददातु अहं स्वमनः वशे करिष्यामि पुरुषार्थ आधारेण ईश्वर तदा संयम ददाति न वा ददाति पुरुषार्थ कृत्वा ददाति बिना पुरुषार्थ न ददाति तो पुरुषार्थ तो अधुना एव करोति स कर्मण फलम तो नास्ति अधुना ईश्वर साह्यं ददाति स एव स एव ददाति बिना पुरुषार्थ यथा हि कश्चित है कर्मचारी भवेत भवन निर्माणे सह वज्रचूर्णम वज्रचूर्ण से यू किम कट्टा स न उत्थापित शक्नोति भूबलात् अपि न उत्थितः पुनः कथयति भगवान् स्वामी न भवान् साह्यं ददातु स विना एव कर्मणा एव साह्यं ददाति उत्थापयति पुनः तस्य तस्य ये कर्मणः फलं तद् भिन्नं भवति एतत् भिन्ना इयं सहायता भिन्ना अस्ति पूर्वं स कर्मकारः प्रयत्नो कृतवान् पुनः अश्वजातः तत् श्राद्धः कृतवान् सः सहायता ददाति तत् तस्मिन् तु किमपि दोष वदतु भवान् यतोहि साहाय्यप्रदातारः पश्यति यत् असौ पूर्वं साहाय्ये साहाय्यप्रदातारः प्रदातार इति बहुवचनम् प्रदाता सहाय प्रदाता पश्यति यत् अयं पुरुषार्थः तु करोति पुरुषार्थः अयं करोति पुरुषार्थः अयं करोति इति कथम् पुरुषार्थं करोति पुरुषार्थं करोति अनेन असौ अधिकारी अस्ति सहायस्य अस्तु तर्हि अयम् अधिकारी अस्ति पुरुषार्थत्वात् अस्तु अधुना आप ये बताएंगे कि आप उपासना काल में एक एक घंटा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। जो लगाते हैं नियम पर हाथ खड़ा करेंगे एक बार जो नहीं लगाते हाथ खड़ा करो कई बार नहीं लगाते हाथ खड़ा करो कई बार हो जाते हैं ऊंचा बोलो कई बार नहीं लगाते क्यों नहीं लगाते जब नहीं लगाते तो उसका कोई दंड लेते हो या नहीं है दंड या क्या क्या करते हो जब ये नियम आपके सामने है कि हमको एक एक घंटा उपासना में लगाना है तो क्यों नहीं लगाते और नहीं लगाते तो आप दोषी हैं उसका दंड क्यों नहीं लेते और अगले दिन क्यों नहीं उसको पूरा करते नियम को ये बताओ एक बात याद रखिए या तो पूरा समय लगाइए और आप लेट करके बैठ करके लगाइए जो भी और किसी भी प्रकार से नहीं लगा सकते तो अधिकारियों को सूचना देना कि मैं इस रोग के कारण लेट के लगाता हूँ बैठ के लगाता हूँ ये तो बात ठीक हो सकती है और आप नहीं लगाते तो इससे आपका जीवन खराब होगा बिगड़ेगा और अधिकारियों के साथ धोखा करते हैं आप अनुचित व्यवहार है आप नहीं है तो बताइए आप कभी ऐसा नहीं देखते कि लोग मेरे ऊपर क्या विश्वास रखते हैं नियम बनाए हैं वो ये विश्वास रखते हैं कि ये नियमों का पालन कर रहा होगा वो तो यही सोचेंगे और आप उसको धोखा दे रहे हो अधिकारी को और आप आत्मनिरीक्षण नहीं करते कि मैं, मैं ये अनुचित कर रहा हूं कि एक नियम तो ये बना है और मैं करता हूं नहीं और ना पश्चाताप करता न सूचना देता और उसको ब्रह्म डाल रखा है कि एक एक, घंटा करते और हम भी बोलेंगे कि हमारे ब्रह्मचारियों के लिए एक एक घंटा उपासना का निश्चय हम भी झूठे ये है ही नहीं एक एक घंटा देखो और आप मानते सिद्धांत रूप में सत्य के ग्रहण करने या सत्य के छोड़ने बुद्धि तरफ कहा उद्यत हैं आप ये सब बिगड़ने के आधार कारण बने हुए व्यवहार आपका गलत है अथवा आप नहीं बैठ सकते तो लेट के करो या जो भी उसमें विकल्प दिए हैं कि भाई नहीं बैठने पे क्या क्या करे वो पुस्तक में देख के पढ़ता है उसका ध्यान नहीं जमता तो क्या करे तो वो बैठ नहीं सकता तो लेट के करे और जब वो नहीं कर सकता तो ऐसा बीमार रोगी हो तो स्थिति बतानी पड़ेगी इस काल से मैं कर नहीं सकता और आप कोई भी विकल्प नहीं पूरा करते और न उसका नियम का पालन करते परिणाम एक तो यह है कि नियम भंग करने का स्वभाव आपका बन चुका है और उसमें कोई घृणा नहीं है नियम भंग करने में आपको जैसे ये छोटा नियम दिखता है भंग करते हो आपके सारे नियमों को ही भंग करेंगे मर्यादा आपकी कोई रह नहीं पाएगी परिणाम यह होगा क्योंकि नियम भंग करना आपने अच्छा मान लिया अपनी बुद्धि में जो बात आए वही ठीक है चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो आपका स्वभाव यह बनेगा आगे ध्यान रखिए जब गुरु अध्यापक आचार्यों को पता चलेगा कि ये व्यक्ति बताए हुए नियम को भंग करता रहता है और सूचना भी नहीं देता तो आपका विश्वास नहीं करेगा वो और बातों पर भी विश्वास उठ जाएगा अब बतलाइए आपने क्या करना है ऐसे ही तोड़ते रहना है या सुधार करना है हाँ जी बोलिए सुधार करना है हुँ? हम्म? क्यों जी क्या करना है आपको इन बातों का ज्ञान नहीं है तो सीख लो समझ लो दर्शनों में उपनिषदों में वेद व्याख्यान में सब बातें आती हैं और सिखाई जाती है और उनको न याद रखना न सीखना न व्यवहार में लाना ये अच्छे मनुष्यों का कार्य नहीं बिगड़ने वाले का कार्य है कहते हैं यमों का पालन सार्वभौम है ये यम नियमों का पालन करो मन वाणी शरीर से एक और आप उससे विरुद्ध उनको भंग करते रहते हैं तो आप कैसे सुधर जाएंगे फिर आप कहेंगे हमने तो यम नियमों का पालन किया था तो योगांग अनुष्ठान आता है शुद्धि अक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति हमको तो विवेक हुआ नहीं विवेक होता कहा आपने नियमों का यम नियमों का भंग किया है आठ अंगों का यदि पालन करते तो अविद्या का नाश हो जाता अशुद्धि का और विवेक ख्याति उत्पन्न हो ही जाती अष्टांग योग का पालन करने वो आपने की नहीं नहीं की और कहते हैं कि हमने ऐसा पालन करके देखा हम इतने दिन वहां पर रहे गुरुकुल में रहे हमको तो विवेक हुआ नहीं कहना यह होगा ये व्यवहार ये रूपरेखा ये रीति अच्छे मनुष्यों की नहीं है मनुष्य कोटि से बाहर की बातें हैं ये जो मैंने सुनाई आपको आप ये मन में रखते होंगे कि ऐसा करने से हमको सुख मिलेगा और दुख हट जाएगा ये असंभव बात है दुख आपका नहीं हटेगा और सुख आपको नहीं मिलेगा परिणाम दुख भोगना ही पड़ेगा अब विराम वेद मंत्र में जो हमारे कल्याण के लिए उपदेश किया गया उसको समझने का प्रयास करें मंत्र में ईश्वर से और विद्वानों से प्रार्थना की गई है हे ईश्वर हम इन कानों से बद्र ही सुने यद्यपि हम ध्यान न दें तो इन कानों से अभद्र सुना जाएगा आप देख सकते हैं आज के बालक बालिकाएं जो टेलीविजन में सुनते सुनाते हैं वो सुनते हैं वो अभद्र ही होता है लग आप यहाँ जो सुनते हैं वेदों दर्शनों उपनिषदों की गंभीर विद्या को ये भद्र होता है प्रत्येक व्यक्ति ध्यान दे ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे ईश्वर मैं इन कानों से भद्र ही सुनू कभी कभी व्यक्ति चाहता है मैं भद्र सुनू तो भी कान में आवाज आ रही है वो चाहते वो इसको रोक नहीं सकता फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है हे ईश्वर मैं इन कानों से भद्र सुनू लौकिक सुख और सुख के साधन नित्य ईश्वर का सुख और सुख के साधन इन चार का नाम भद्र है आवृत्ति कर लो आपको याद हुआ या नहीं हुआ बोल लो क्या सुनाया जब आप ये निश्चित करेंगे मैंने भद्र सुनना है तो अभद्र से बच जाएंगे आप आपका कोई निर्णय है नहीं है तो आप अभद्र को नहीं छोड़ सकते और भद्र को ग्रहण नहीं कर सकते इतना ही नहीं पूरा निर्णय हो जाने पर भी बार बार निश्चित हो जाने पर भी व्यक्ति के कुसंस्कार उस अभद्र को ही सुनने की चेष्टा पैदा कर देंगे आप प्रयोग करके देख सकते और याद रखिए जो हम कानून से सुनते हैं उसका प्रभाव मन पर बुद्धि पर आत्मा पर सतत पड़ता रहता है फिर आंखों की बात आई आंखों से भी हम बदर ही देखें अबदर न देखें प्रथम आपको निर्वाचन करना पड़ेगा ये भद्र है ये भद्र नहीं है उसके पश्चात प्रयोग होते हैं जब हम प्रयोग करते हैं व्यवहार में उस समय आप परीक्षण करेंगे यद्यपि हमने पूर्व काल में अथवा पूर्व जन्मों में ऐसे अभद्र चीजें देखी या सुनी उनके संस्कार हमारे मन आत्मा पर है याद रखना आप सुनने पर भी समझने पर भी चाहेंगे कि मैं भद्र देखूं पर बलात् भद्र दिखाई देगा ऐसी प्रतीति होगी आप या नहीं होगी जब आप निर्णय करके चलेंगे भद्र ही देखना है और अभद्र नहीं देखना तो प्रयास करते करते एक समय आएगा वो जो अभद्र देखने की जो चेष्टा संस्कार है वो निर्बल पड़ जाएगी कमजोर होती चली जाएगी टकराते रहिए वो कमजोर तनु निर्बल होती जाएगी अज्ञान से अधर्म से कुसंस्कारों से युद्ध करो वो निर्बल होते चले जाते उनसे सहायता उनको सहायता मत दो क्या समझे किन को अविद्या को सहायता मत दो अधर्म को सहायता मत दो कुसंस्कारों को सहायता विरोध करो यदि आपको ऐसा नहीं करना आता तो उनको आप तनु नहीं बना सकते कमजोर नहीं बना सकते कालांतर में उनको आप दग्ध बीज भाव नहीं बना सकते राग द्वेष कलेशों की पांच अवस्थाएं कितनी प्रसुप्त एक तनु दो विच्छन्न तीन उदार चार दग्ध बीज भाव पांच दोहराओ याद करो राग द्वेष आदि क्लेशों की पांच अवस्थाएं बुरे संस्कारों की पांच अवस्थाएं कौन कौन सी प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार और दग्ध बीज भाव अब मोटे दृष्टांत से उसे चलेंगे हम आप ये नहीं कह सकते कि समझाया नहीं गया हम ये कह सकते आपने सुना नहीं याद नहीं किया हम कहेंगे कभी बथुआ देखा खेतों में खाया तो होगा कम से कम है तो बथुआ देखा होगा अब शीतकाल में प्राय उत्पन्न होता है यहाँ फिर वो कम हो जाता है फिर वो सूख जाता है उसका बीज गिरता है भूमि में और गिरने के पश्चात वहां ट्रैक्टर चलता रहता है हल चलता रहता है फावड़ा चलता रहता है एक वर्ष तक शीतकाल आने तक वो भूमि में पड़ा हुआ रहता है और जब गेहूं बोते हैं आदि आदि और उस समय जब पानी देते हैं या वर्षा होती है तब वही बथुए का बीज ऊग के आता है वो प्रसुप्त था अब तो समझ माया जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे मन में काम क्रोध लोभ मौके प्रसुप्त है और जब वो अनुकूल वातावरण आता है तब उद्बुद्ध हो जाते हैं आगे बढ़ो तनु आप में से झूठ कौन बोलते हैं जानबूझ के हाथ खड़ा करो जानबूझ के जो बोलते हैं अच्छा जिन्होंने छोड़ दिया झूठ बोलना वो हाथ खड़ा करो अब वो छोड़ा हुआ जो झूठ है अब वो तनु रह गया है नहीं समझे आप आपने उसके ऊपर मार मारी है और याद रखना यदि मार मार नहीं छोड़ दी तो बथवे की तरह फिर उग के आएगा वो दोष को रोग को छोटा सा मान के ढीला नहीं छोड़ देना चाहिए सत्संग से स्वाध्याय से ईश्वर उपासना से इन कुसंस्कारों को मारो विद्या से उखाड़ो मारते रहो मारते ही रहो मारते ही रहो ये तनु बनते बनते आगे प्रसुप्त तनु विच्छिन्न एक संस्कार उभर के आ गया एक दृष्टांत बनाएंगे एक सुंदर रूप को हमने देखा बहुत अच्छा लगा उसको देख के दूसरी ओर चले गए दूसरी और एक सुंदर रूप को और देखा पहले वाला जो संस्कार था वो तो रुक गया और सामने जो आया वो उभरा एक संस्कार के नीचे जब दूसरा संस्कार दबा पड़ा रहता है ताक में उसका नाम है क्या समझ में आया और कहीं ध्यान पर इतना गया था आपने सुना हो हमने सुना है भेड़िए होते हैं हम सुनते थे साक्षात तो नहीं देखा ये तो देखा भेड़िए बकरी को भेड़ को जट पकड़ लेते और मृग जो उछलता कूदता लगभग जहां तक हमने सुना अठारह फुट की लगभग उसकी कूद होती है मृग जो कूद चलता ना उसको भेड़िया पकड़ने में सीधा पकड़ने में असमर्थ रहता है ऐसा माना जाता है और वहां पर क्या होता है एक भेड़िया तो मृगों को चक्कर लाके घुमा के जाता है <laughs> और एक भेड़िया ऐसे बिल्ली की तरह जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ती है ना नहीं देखी आपने बिल्ली तो देखी होगी भेड़िए को छोड़ो बिल्ली <laughs> तो देखी होगी ऐसे नहीं देखी आपने वो विच्छिन्न है <laughs> जो आते ही बस वह कूद जाएगी तो ये बुरे संस्कार ही विषय आते ही कूद जाएंगे आपका आपकी नाक रगड़ देंगे कभी सोचो ये मरे गए <laughs> क्या समझ पाया अच्छा पर सुप्त तो है काम ही नहीं कर रहा बचवे का बीज पड़ा है और ये बिल्कुल तैयार है इतना होते ही मारेगा वो नहीं प्रसुप्ता से मार नहीं मार सकता एक के नीचे दब गया नहीं मानना चाहिए कि वो गया है हट गया अच्छे ही तत्काल उभर के आ जाना एक के प्रयोग से दूसरे प्रयोग का रुक जाना और उसे हटते ही तत्काल आक्रमण कर देना फिर से सुन लो आगे बढ़ो राग के नीचे राग का दब जाना एक राग के नीचे दूसरे राग का दब जाना वो तीव्र था पहले सुंदर रूप को हम तीव्रता से देख रहे थे उससे भी कुछ और सुंदर आ गया ये तो दब गया <laughs> रुक गया केवल और उसको देखने लग गए ये विच्छिन्न हो गया उसको हमने हटा दिया और तीसरा रूप देखा वो विच्छिन्न हो गया परंतु जब सामने वाला हटा ध्यान देना और दूसरा दिखाई देते उस पर टूट पड़े हम <laughs> अब तो आया होगा समझ में या नहीं आया राग के नीचे राग का दब जाना और अवसर पाने पर आक्रमण कर देना द्वेष के नीचे द्वेष का दब जाना और